क्या अब इनके अलावा भी धातु बच वो सब सेठ सेठ धातु में जब प्रत्यय देखो प्रत्यय जो होते हैं धातु से लगने वाले होती हो गया और तो जकार का सकार को तो कहते हैं अभी का सकार को नहीं ये प्रत्यय को बताती है कोई सात हाथ चार लगा में सात हाथ छः लगा में नहीं मैंने पूछा चार लगा में सात हाथ छः लगा में और जो लगानों के अलावा बनते हैं उनमें जो शित होता है मतलब जो शित नहीं है

अंदर थी अठारह सौ में थी और बीस उसमें कुलताप कुलताप चौहत्तर इनमें से चौहत्तर थे इसमें से तेरह देखो एक शक में जो शक इसमें आया होना चाहिए उत्सर्ग प्रत्यय अपित जो अपित प्रत्यय होते हैं अपित उनके बारे में क्या मालूम भाव अपित के बारे में कुछ नहीं मालूम एक सूत्र है सार्व सार्व धातु धातु का का अपित अपने धातु प्रत्यय उनको मान लेते हैं कि उनको मान लेते हैं कि सारे धातु का इसको तो शीघ्र बोलने कोई नहीं होगा शीघ्र बोधन चाहिए जो वो बच्चा पढ़ रहा है साथ वो तो है नहीं उसके पास कोई शीघ्र बोधन एक समान पुस्तक लेके बैठते समीक्षा पर अब सब अलग अलग पन्ने पलटते हैं इसी मुझे सिद्ध होती इसी में सिद्ध एक समान क्यों लेके बैठते हो कहाँ से लिया इसको वहाँ पास पुस्तक है क्या ये दो सौ तेईस किसकी पुस्तकें हैं सर सारणार्थक होते ध्यान दो अपने सारणार्थक करते हो सेवेंटी फोर करते हैं उसमें से तेरह पे बचे हुए विक्रमों में शक के थे बाकी जो अपने सारणार्थक करते होते वो मान लिए जाते हैं कि तो गित मान लिया इनके लगने में वही कार्य होगा जो गित पत्ते होने का गित पत्ते बने होने पर क्या होता है ऊपर होने पर क्या होगा इस प्रज्ञा में क्या होगा इंगित का सुन पढ़ा है विद्युत प्रत्यय करे होने पर एक के स्थान पर होने क्यों कहता है विद्युत प्रत्यय साधातु के आधातु है जन संयोग गुण एक गुण है पूर्वत लघुपदम से कहता उपना लघु अंत तो के तो तो इसको को बोलता है और उपदा के लघु और मृत की उपदा को सात बात बारह बात हो उपंत लघु उपदा से क्या सात बात बारह बात अंत कैसे बोल सकता है उपंत लघु उपदा से क्या उपदा से उपदा मुझे बच्चे उपदा की और कहीं भी चढ़ जाता है तो चीज़ के अंदर तो क्लीन और कुछ नहीं जाता ठीक है अब आपके सामने पिक्चर आया इसका इसका हम कैसा पूछते हला दिया आपने आपने धोने से गिर एक बार अब इसके आगे और साहब आपने हला दिया गिर है और आपने धोने से गिर गिर बोला गिर को धोने अब इसके लगने पर गुणों अब ये लगेगा गुणों का धातु आपको क्या नहीं वो किंग तो क्योंकि आप ये गिफ्ट आप ये गिफ्ट आप इस बात साथ हमें तो गिफ्ट होता है अब ये कैसे हो गया गिफ्ट अब गिफ्ट हो गया तो किंग की चाया आपके साथ नहीं कर कौन फोन करने आ रहा है है रहा ठीक है और नहीं नहीं यहाँ भी लगेगी यहाँ कितने रुपये आपका अंत में एक होता है तो उतना में लघु है प्रोग्राम उसको उनको सर्दी पढ़ा दें बस पाँच सौ उनका आप पूरा हो जाए अपन ये जो ग्रुप आ जाता है फालतू हूँ अब मैंने मैंने की लगा दी अब मैंने बत्ती लगा दी अब अब कार्य कर सकते हैं क्योंकि वो फिट है और लेने में लगा दिया तो

दस लगाया तहर तो ने नी तहर और ने ठीक है आधा तो आधा उधर से नहीं होगा और उधर से लगता है भी अमृत धातु आएगा अमृत अच्छा यहाँ क्या प्राप्त था मुझे मुझे अभी भी नहीं

तकलीफ का टिकट होगा तो फिर होगा उसको मान लिया टिकट तो भी अपित करते हैं टिकट होते हैं अपित साथ अधिक सकते हैं अपित साथ अधिक सकते लगेगा अब वहाँ अब तो समझ गए दो जिसमें अब बात हमने आपको क्या लेंगे पचास सौ स्टेट लाए होंगे पचास सौ लड़के लोग चलते हैं पैर रख के पत्ता सभी घूमते देखते भी पत्ते को नहीं नहीं आप इसके लिए बनाएंगे तीर का और इसमें लेनी धातु कैसा है उसको दिल जब धातु को दिल को बजाता है इसका नाम अभ्यस्त होता है जब धातु अभ्यस्त होता है तो तीन प्रत्यय बदल जाते हैं आज इनको ददाती ददाती की बात करते अब इनका टाइम है चुनौती हो गया शटनौती हो गया निगाती हो गया अस्थि हो गया करोती हो गया आज आप ददाती ददाती बनाएंगे अस्थि नहीं हुआ अश्नुते हुआ है अस्थि अस्थि नहीं हुआ अभ्यास करिए अस्थि और दो के अच्छा, तो देखो आपको पता है के पत्ते अलग होते हैं तो पत्ते आएंगे पीता पीता आना चाहिए तो एक होता है अदन को एक होता है अनदन को एक होता है अभ्यस्त एक धातु जब डबल कर देते हैं तो उसका नाम अभ्यस्त हो जाता है

तो सब कौन सा कुछ करें कि हमारे साथ गुजार के समय तो भाई स्वतंत्र आदि के वाले एक के बाद एक के बाद एक आने वाले वाली पच्चीस तो ये धातु कैसा है आंदोलन तो, है ये अभ्यस्त जब धातु अभ्यस्त होता है तो तीन प्रत्यय बदल जाते हैं अंति की जगह अति हो जाता है अंतु को अतु हो जाता है जो अन है लग लग्न का तीसरी तीन में गुण लेने थी लेने शी

साधातु वर्ग सूत्र से अपने प्रत्येक व्युक्त में बराबर मान्य है इसलिए किंचित अपने प्रत्यय साधातु वर्ग से द्वितवत होती है तो समान है इसलिए किंचित निषेध तो लेने की लेनीता लेने की लेनीता लेने भी लेनीगा समझ गए पित प्रत्यय में गुण होता है अपित क्यों नहीं होता कि जब सबसे दुश्मन कौन रहता है तो इसको ध्यान दीजिए बच्चा को तो है आप इस पर इसको ध्यान आप इस पर दृष्टि करा दो चले मतलब आप बच जाएगा इसको इतना करा दो कि वहाँ अभ्यास कर और यहाँ टेलीफोनिक टॉक समझ जाए टेलीफोन से बात करें समझ जाएगा तो सी में बोलूँगा

कहेंगे इसको असंयोग तीन बातें मानता है अंत में ई हो ई के पहले संयोग ना हो और जो धातु है उसमें अनेक अश अनेक मतलब एक से ये नहीं क्या अनेकाश है असहयोग पूर्व है

अपित में गुण होता अब जो एक्सेप्शन आएंगे कहाँ फिट में गुण नहीं होता और में गुण जाता है अभी हम आपको अफिट करते हैं और अंत में ही दो प्रकार करेंगे अनेक आज कभी ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो हमारी कमर में मोबाइल रहता है और लक्ष्मी तो को लगाती है एक्चुअली बेसहारा इसको कोई हेल्प हो तो तो चंचल चित्त में किसी नरक में चली जाएगी साक्षात आदमी का चंचल चित्त उसको नरक में गिरा देता है ये खूबसूरत लड़कियाँ हमेशा बड़ाई होती हैं खूबसूरती भला है खूबसूरत लड़कियों के साथ कोई ना कोई स्कैंडल लगे रहते और स्कैंडल बर्बाद तुमने विवाह किया तुम पति के साथ हो गए ना तक तो छोटा अपराध है कि तुमने विवाह किया तो तुम अपने पूर्व प्रेमी को फोन करके बुला रहे हो पति घर

कोई नहीं रोक सकता चार हैं बच्चों के बाद औरतें मर जाती हैं फिर जाना जब मनु वही आके याद हो गए बालक के और वो साधक के अनन्या नहीं मनु मनु है वो अनन्या मनु मनु अनन्या अंजलि वो वाला मेरे जाना ट्यूशन है किसको जाना है मनु को मनु को छोड़ हाँ। अनन्या ये ये है कि अप्रत्यय अपित तो क्या करें तो जिसके पहले संयोग नहीं है उसको तो आप यंग करें और जिसके पहले संयोग है उसको यंग इको यंग यंग किया तो बस क्या किए e. पेट प्रियत इसको बना नियत नियत नियत तो कह रहे हैं सोती है वहाँ लड़के बैठते हैं यहाँ भी मस्त हो यहाँ मस्त हो लड़के बैठते हैं लड़के भी उम्र खराब होती है दृष्टि खराब होती है हमने कहा तुम जाकर बाबू जी कमरे में नीचे बिछा के सो जाओ कौन देता है इतना छूट कि बाबू जी एक तरफ सोए तुम तो नीचे बिछा के सो जाओ वहाँ गर्मी मत तब हो जाती है तो सब तुमको देते हैं उसके बाद तुम हमसे झलकत की मोबाइल लेके तुम फोन करके घबराती हो Thank you. मेहनी और अति में ई को यम होना है ई e को यम और इसमें ई e को यम हो गया ई e यम ई यम उसको हुआ या इसको हुआ ई मेहनी अति और लेप ठीक है मैंने ती नैनीता मेरे श्रेणीता नैनीता मेरे और पेपरी Куплю я тебя потом держи на держи. Держи. ये संयोग है उसको हो जाएगा ये रेती और नैनी की जगह ले लो तुम विभी विभी ले लो झुकी विभिया डरता है विभिया लज्जित होता है विभिया विभेति विभीता विभेष विभीता विभीता विभीता विभीता और जुर्भेति जुर्भीता जुर्भियत जुर्भियत मिल जाएगा जुर्भियत जुर्भियत जुर्भेति जुर्भीता जुर्भियत जुर्भेश जुर्भीता जुर्भियता जुर्भियता ई आगे बढ़ते आजादी दो चीज़ होती है या तो हो सकता है संयोग है तो और संयोग नहीं है तो। सूत्र तो है ये रहने का तो संयोग कहाँ दिखाया तो उनको स्थिति नहीं उस पर हाँ, ऐसे मत देखो ऐसे नहीं ऐसे ही मिलेंगे ऐसे मत सूत्र माता जी आप दो सौ चालीस पेज पढ़िए दो सौ चालीस इसमें ई के बारे में सब के बारे में सब दिया देखिए ये लिखा इन धातु को तो यम धातु इन यानी ई ई यानी जान तो दोनों ई एक ही होते हैं अच्छा। ई को पिक करते हुए आजाद या पिक जब आएगा

लोग पुराने कांचों का बिजली इसको जम किससे होगा इसको लिखा है ये रले कांचों संयोग जितनी पुस्तकें हैं ये ये सारी पुस्तकों में अखबार की कवर चम गई इसकी जिसके पास पुस्तकों का नाश है ये रले कांचों संयोग पूर्वक ठीक है क्या हो गया एक असहयोग पूर्व है अनेक अनेकांश दम क्या बन गया

व्योन्य तरस्या फलादि अपनी प्रत्यय होता है तो भी को विकल्प से रस मिलता है तो विभिन्नता भिन्नता भेद से ये का तो संयोग पूर्वक से और अचित धातु गुणाम जो ये गुणों और गुणों तीन धातु में ज्ञात करो पूर्ण गुण को और शील शील हाँ शीत शहर page. Our page. Search for Sudeshi Vakil. Tag Vakil. Tag Vakil. शी धातु के लिए लिखा है शी धातु और शी असाध धातु के गुण शी धातु को सारे प्रत्यय में गुण होता है नहीं है पितृ और तीन प्रत्यय उसके बदलते हैं आते अते अते हो जाता है बते शेर क्षया ते क्षीरति एतां क्षयातां क्षीरताम् अशीर् अक्षयाताम् अशीरत् रते रताम रत इन पत्ते बदलेंगे अपित में भी गुण है क्षीण साधस की गुना अपित में भी गुण क्यों ना एति शी शेते वी विभेदी और जुर्मी सात आदमी को जाके गई थी और उसके बाद ये अगला ले लूँ ये ले लूँ अभी

और बचे जो अब जो बच उसमें यदि अनेक अचवारा उनको बोली है तो यह करना बाकी सब एक ही का चार सारा कोई सब ये मिलेगा सब चलेगा